चौबीस यहाँ पूरा हुआ था ये ये कामान दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामांश्चन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामः सरथः सतुर्या न हि दृशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणमानुप्राक्षी ये ये कामा मर्तलोके दुर्लभा काम्यंतेति काम कामना का विषय दुर्लभ मर्तलोक में प्राप्त नहीं हो सकता है इस लोक में जितने सुख प्राप्त होता है सुख तो जो है विषय से प्राप्ति के आरंभ करते हैं तो विषय कुछ सीमित है आयु भी सीमित है विषय भी किंतु स्वर्ग में उसे और बहुत सुख है जो सुख स्वर्ग में प्राप्त होता है यहाँ दुर्लभ है आगे आगे ऊपर ऊपर में जो सुख है नीचे नीचे लोक में और दुर्लभ है मर्त्यलोक में और जो दुर्लभ काम है जैसे अवसर आदि है वहाँ तो भोजन इच्छा करने से प्राप्त हो जाएगा मर्त्य में नहीं है इसी प्रकार से जो प्राप्त है संगीत गीत आदि दुर्लभ है मर्त्यलोक में सर्वान कामान संदत प्राते सो स्वच्छंदत इच्छा से जो चाहते हो सब काम विषय को मांग लो मर्त्य मनुष्य है ये मनुष्य लोग मर्त्य लोग कहते हैं मरण ज़्यादा होता है तो ये स्वर्ग में क्या काम विषय दुर्लभ ऐसा क्या है हो सकता है जी सब लोगों को विश्वास नहीं होता स्वर्ग में ऐसा क्या हो सकता है इसे देखा दिया देखो इमा राम सरथा सतुर्या नहीं दृश्यालंबनिया मनुष्य ही इमा राम अप्सरयादि रम रमयंती पुरुषान राम सरथा रथ के साथ चतुर्या तुर्य है वाद्य आदि वाद्य आदि के साथ रथ वादित्य नृत्य आदि सब का युक्त ये राम ईदृशा मनुष्य ही न लंभनिया मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकता है जो स्वर्ग में ही प्राप्त होता है आविर मत प्रत्याभि परिचारेश मत प्रत्याभि प्रदत्त को प्रत्त हो गया मेरे द्वारा दिया गया अच्छा उपसर्गात तो मेरे द्वारा दिया गया ये जो आभि ये रामा स्त्री आदि है इनसे परिचार्य से सेवा कराओ भोग करो हे नचिकेत मरणमान प्राक्षी मरण के विषय में प्रश्न नहीं करो क्या मिलेगा उसे भाष्य में ये ये काम प्रार्थनिया जो काम्यन्ते थे काम अर्थनिया प्रार्थना का विषय जो चाहते हैं दुर्लभा समर्थलोके मर्त्यलोक में दुर्लभ है अमृत पान पीयूष पानादय अमृत स्वर्ग में यहाँ नहीं है सर्वान स्थान कामान संदतः प्रार्थेश संदतः इच्छातः जो चाहे अपने जो जम चाहते सो तो मांग लो किंचैमा दिव्य अप्सरस रमयन्ति पुरुषानिति रामा ये दिव्य दिव्य भव दिव्य स्वर्ग में होने वाले अप्सरस अप्सर है अप्सरस शब्द है अप्सरा बनता है स्त्रियां बहुषु अप्सरस स्वर्वेश्या उर्वशी मुखा इति अमर अप्सरा प्रयोग अप्सरस स्त्रीलिंग में बहुवचन रमयंती पुरुषा नहीं थे रामा पुरुष को रमयंती सुख देने वाले क्रीड़ा कराते हैं सहरथे सरथा वर्तन्ते थे सरथा रथ यान विभिन्न प्रकार यान है सतुर्या तुर्य ही सह तुर्य वाद्य वादित्राश्च सवादित्राश्च सवादित्राश्च वादित्र वाद्य के साथ संगीत आदि सब नहीं लंबनिया ईदृशा लंबनिया प्रापणिया ईदृशा इस प्रकार भोग्य मनुष्य से मनुष्य को प्राप्त नहीं होता एवं विधा मनुष्य मरते यदि मनुष्य से प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे प्राप्त करेंगे इसलिए कहते अस्मदादि प्रसाद मंत्रण हम चाहेंगे तो दे सकते हैं यही से हमारे प्रसाद के बिना कृपा के बिना कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है आभिर्मत प्रताभिर मया दत्ताभि प्रताभि प्रपूर्वा टीका में दिया प्रपूर्वाद ददाते निष्ठायाम अच उपसर्गा इतने दा धातु आकार को व्यंजन तकार हो गया दत्ताभि प्र दा निष्ठा तो आकार को तो हो गया दत्त प्रत्त प्रत्त बन गया प्रत्ताभि आविर्मत प्रत्ता भी उसका अर्थ दत्ता भी परिचारणी भी ये सेवा करने वाले परिचारेश अपनी सेवा कराओ आत्मान पाद प्रक्षालन आदि सुसुसाम कार्य आत्मन पाद प्रक्षालन से लेकर भोग आदि सब कुछ सेवा कराओ तो मरणम मान प्राप्ति मरण पूछो मतलब मरण संबद्धम प्रश्नम मरण संबंधी जो प्रश्न आपने किया था प्रेत अस्थि नास्ति इति इससे क्या मिलेगा काक दंत परिचय रूपम काक दंत है या नहीं कितने दांत है उसे कोई मां लाभ नहीं है कोई विवेकी इसकी में विचार नहीं करते हैं जो सब प्रयोजन हो कोई इसका प्रयोजन हो तो विचार प्रश्न करना जिसका कोई प्रयोजन नहीं ऐसा क्या मरण है नहीं ऐसे क्या मिलेगा मानुप्राक्षर में एवं ऋषि पूछना जरूरत नहीं बहुत प्रकार प्रलोभन करने पर भी एवं मृत्युना प्रलोभ्यमान अपि नचिकेता महाहृदवत अक्षोभ्य आह प्रलोभित करने पर भी कच्चि धीर प्रत्येगात्मान ऐच्छद जो धीर होता है विवेकी एक होता है धीर और दूसरा है चंचल महाहृदवत अक्षव्य अक्षुव संचलने चलने महाहृद अति गभीर जलाशय सामान्य जल हो थोड़ा कुछ मछली दे तो हिला देगा पानी हिल जाएगा अब बहुत गंभीर जल है तो बड़े बड़े हस्ती जल हस्ती भी है हिलाएं कुछ करें तो कुछ नहीं होगा बड़े बड़े कुछ पत्थर बड़े बड़े बड़े बड़े मत्स्य भी समुद्र में है और नौका के भी बड़े-बड़े जहाज की भी उल्टा देंगे तिमी बड़े-बड़े बड़े मत्स्य है और एक होता है लो उसको भी निकल लेने वाले उसके हड्डी अस्थि कहीं देखा बहुत बड़े ये जितने ससन लंबा इतने लंबा हड्डी रखी गई इतने बड़े उसको देखने से पता चलता है कितने बड़े होगा बड़े हड्डी तो वो बड़े बड़े वो जितने रहने पर समुद्र ऊपर से शांत है जो लहरी समुद्र में तो किनारे दिखते हैं अंदर जाने के बाद कोई लहर नहीं शांत है कोई तैर कर अंदर चल जाते तो देखिए उसमें तरंग सामने से आता है और रहे तो वे शांत है बाहर तरंग दिखता है शुभ संचरण नहीं होता पानी जितने आए बड़े-बड़े मगर तिमी आदि मतलब बहुत बड़े-बड़े जानवर है और नीचे नीचे बहुत बहुत है वो जिस प्रकार गाड़ी में लाइट हो होते प्रकाश नीचे बहुत ऐसे उनके आंख में प्रकाश इतने जोर से ऐसे और बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार बहुत बड़े-बड़े तो भी समुद्र जैसे संचलन नहीं है इसी प्रकार न चिकेता महाहृदवत अक्षव्य थोड़े इधर-उधर होने से लोभी प्रलोभित होकर के छोड़ देते हैं बच्चे जैसे बच्चे कुछ पकड़ा है दूसरे कुछ मिला उसको छोड़ उसको पकड़ लेता है रोता है कुछ देखना छोड़ना बंद हो गया थोड़ी देर रो लेता है बड़े खुश हो जाते कुछ मिल गया और चीज़ क्या है पता नहीं कुछ मिल गया रोने वाले भी बहुत खुश हो पकड़ लेता है कुछ भी हो मुख में लगाता है कुछ नहीं मिलता इसी प्रकार चंचल मनुष्य भी साधक भी ऐसे ऐसे थोड़े कुछ माया के मोह से फंस करके भूल जाता है अपने क्या करने के लिए आया था क्या करना चाहिए भूल जाता है कहाँ-कहाँ भागता है पीछे किसके बहुत दूर जाने के बाद तो पता चलता है कहाँ आया उस समय इतने आगे बढ़ जाता है तो पीछे आने में शर्म लगेगा <laughs> फिर न किसको बोल सकते फिर बोलना पड़ता सब किसान हमको ज्ञान हो गया झूठ बोलना बहुत लोग ऐसे करते हैं सब लोग को जब सम्मान करेंगे वहाँ यदि कहेंगे हमको कुछ नहीं हुआ लोगों को नहीं पढ़ पाए इसलिए भाग आया तो ऐसे कोई कहेगा उनके सामने कहेगा हमको तो ज्ञान हो गया ये <clears throat> ये रास्ता बदल जाता है इसलिए सावधान रहना पड़ता है मम माया दुरत्यया नचिकेता जैसे अधिकारी ऐसे वो तो जितने प्रलोभन दिखाए ले लो ले लो कुछ नहीं चाहिए तभी कोई परमार्थ मार्ग में आगे नहीं बढ़े तो कम से कम स्थिरता रहे धीर कोई धीर है बह जाएगा तो प्रवाह में सूखी लकड़ी भी बह जाती है कितने लाश भी बह जाते हैं जो थोड़े प्रवाह से चल जाएगा सूखी लकड़ी लाश के समान है जीवित तो मनुष्य है ऊपर उठ जाते मत्स्य तो तो मछली ऊपर भी चल जाती है जलचर ऊपर नहीं जा पाए तो पत्थर जैसे स्थिर रहे प्रवाह ऊपर ऊपर पहले पहले लगे बहुत बाद में बड़े-बड़े पत्थर से ऊपर पानी चल जाता है ऐसे स्थिर होकर के नचिकेता बोलता है स्वभावामर्त्य से अदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव वास्तव नृत्य गीते ये कोई नहीं कि सबको इस प्रकार यमराज आकर परीक्षा करेंगे बोलेंगे किस प्रकार परीक्षा होती है परमात्मा परीक्षा करते पता नहीं चलता है सामान्य व्यवहार में ऐसे ऐसे परीक्षा हो जाती है कोई नहीं सामने पता चलेगा कि अभी आकर भगवान परीक्षा करते तो सब सावधान हो जाएंगे सामान्य व्यवहार में इस प्रकार प्रलोभन आ जाता है तो सब भूल जाता है यह नचिकेता कहते हैं स्वभाव मर्त्यस्य यदंतक एतेतत् मर्त्यस्य स्वभाव स्व काल को आने वाले काल को स्व काल को रहेगा नहीं रहेगा इसमें संदेह है जो भी दिखता है काल को ऐसे रहेगा और यदि भूकंप हो गया पाँच पाँच मिनट के लिए समा पर्वत को समुद्र बना देगा भूकंप हो जाएगा तो जहाँ पर्वत वहाँ समुद्र हो जाएगा जहाँ समुद्र वह स्थलभाग हो जाएगा ये विश्वास होता है भूकंप होने से क्या हो सकता है थोड़ा थोड़े हिल गया तो सब समान हो जाता है और थोड़ा हिला दे तो फिर पर्वत कहाँ नीचे चल जाएगा वहाँ समुद्र आ जाएगा जो समुद्र है वो पानी कहाँ चल गया ये ऊपर उठ जाएगा क्या हाल को रहेगा ऐसा निश्चय नहीं संधि माना भाव पदार्थ मर्त्य से अदंत ये एतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरंति तेजम और जो आप भोग देते हो भोग देना चाहते हो ये सब इंद्रिय के तेज को नष्ट करने वाले हैं जितने भोग करते हैं सो इंद्रिय के तेज नष्ट होते हैं शक्ति ह्रास हो जाती है मनुष्य थक जाते हैं बहुत विषय होने पर भी भोग लगातार नहीं कर सकते हैं सोना पड़ता है छोड़ करके सर्विंद्रणम जरयंती जिरी वयान नष्ट करते हैं समाप्त कर देते हैं जो अप्सरा आदि आप देखा तो हो ये सब इंद्र के शक्ति को नष्ट करने वाले और जो कहते हो चिरजीव का अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव जितने चिरजीवन आप दो वो भी अल्प है अनादि काल से अभी तक कितने चले गया कितने आगे है जितने जीवन हो तो क्या है कुछ नहीं अनादि काल से विचार करेंगे तो चिरजीवन भी कुछ नहीं स्वल्प ही है क्योंकि आगे फिर कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं तवेव वाह तव नित्य गीते ये वाह वाहन आदि हाथी घोड़े आदि रथ आदि और नित्य गीते जितने सब तुम्हारे जो तुम्हारे पास रहने दो वो तुम्हारा ही तुम्हारे पास नित्यम च गीतम च नित्य गीते नित्य गीता आदि वादित्य आदि जितने अप्सरादि सब कुछ तो तुम्हारे ही है रहने दो ये नहीं चाहिए हमको स्वभाव सो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदेहमान एव येषां भावो भाव के तो भवन होना काल को रहेगा नहीं रहेगा जिन जिनका भाव भवनम संदेहमान ये पदार्थ सौ तय उपन्यस्तान भोगान ते स्वभाव आप जो भोग देते हो अनित्य है कितने समय रहेगा कोई ठिकाना नहीं वो सारे रहे विषय बड़े मकान बनाया मकान रहेगा पचास साल सौ साल किंतु उसके पहले मर गया मकान बनाने वाला वो समय नहीं रह पाया इसी प्रकार ये भोग जितने सब अनित्य है किंच मृत्य से मनुष्य से अंतक हे मृत्यु यद एतत् सर्वेन्द्रियाणां तेज जरयन्ति सब इंद्रियों के जो तेज है सुख जीवन प्रयोजक साम शक्ति है तद जरयंती नष्ट कर देते जरयंती अपक्षयंती अवसर प्रभुते है प्रभुते उसको इंद्रिय को समाप्त कर देती जरी वैवान से निज कर्म से जारी हो जाएगा मितामृष हो जाएगा ये दिया है जनि जिरीश नसुरंजो अमंताश्च मितेन से जर जरी बन गया जरयंती का था पक्षयंती अवसर प्रवृत्ति होगा है वह इसलिए अनर्थ अनर्थ के लिए दुख अत्यंत दुख का हेतु है धर्म वीर्य प्रज्ञा तेज तेजो यस प्रवृत्ति नाम चपैतृत्वात् ये भोग सब है स्त्री आदि धर्म वीर्य शक्ति प्रज्ञा बुद्धि तेज यश कीर्ति प्रवृत्ति को समाप्त करने वाले तेज इंद्रिय की शक्ति चपैतृत्वात् चापि दीर्घजीविकां त्वं दित्सति दित्ससि तत्रा विसृणु आप जो दीर्घ जीवन देना चाहते हो दित्सति दातुम इच्छति सनि मीमा घोर अवलव नीचे टिप्पणी हे मीमा घोर अवलव शकपत पदाम चईस धातु इच्छति दा धातु से सन वा दित्व होने के बाद अभ्यास लोप हो जाता है दा को ई से हो जाता है आ को ई से होगा दिस सकार को स से तो के त हो गया दित सती अभ्यास लोप हो गया धातु तो मिच्छति दित सती तत्र भी उसनो सर्वम यद ब्राह्मणोपि जीवत जीवितम आयुर अल्पमेव सर्वम जीवितम अल्पमेव सर्वम जीवित कौन से हमारे जी दीर्घ जीवन नहीं ब्रह्मा के जो जीवन है आयु वो भी अल्प है ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष है वो सौ वर्ष तो हमारे वर्ष जैसे नहीं हमारे तो एक हजार चतुर्युग होने पर ब्रह्मा का दिन और एक हजार चतुर्युग हो तो ब्रह्मा का रात दो हजार चतुर्युग हमारा हो जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होगा एक हजार चतुर्युग में कितने वर्ष है तैयालीस लाख बीस हजार वर्ष तैयालीस लाख बीस हजार वर्ष में एक चतुर्युग उसका हजार गुण करना दिन होगा तिरासी करोड़ से अधिक चार सौ तीस करोड़ से अधिक हो जाएगा और उतने समय रात है ब्रह्मा सोएंगे एक दिन होगा फिर तीस गुना करने से महीना फिर बारह गुना करो तो ब्रह्मा जी का वर्ष होगा ये सौ वर्ष तो भी समाप्त तो हो जाएगा समाप्त होगा ना नहीं तो जीवित ब्राह्मणोपि जीवितम आयु अल्पमेव वो अल्प ही है और जितने भोग करने पर भी भोग से कोई तृप्त हो जाएगा धन कितने मिलने से संतोष हो जाएगा जो जिसके पास कुछ नहीं तो ता इतने मिल जाए तो और कुछ नहीं मांगेगी इतने मिल जाए तो फिर आगे की इच्छा होगी कोई संतोष नहीं हुआ है भोग करके अस्मदादि जब ब्रह्मा की आयु भी समाप्त है किमत अस्मदादि दीर्घ जीविका हमारे दीर्घ जीवन क्या है उसके सामने इसलिए कहते क्षणिक बड़े लंबा काल को विचार देकर विचार करेंगे तो कुछ नहीं पचास सौ साल सौ साल से कोई बचने वाला कम है सौ साल के भी कोई सामने अनादि काल से अनंत काल तक चलता रहेगा अतः तवेव तिष्ठन्तो वाहा वाहा है कौन रथादय तथा नृत्य गीते नृत्य गीते भी तुम्हारे पास रहे मैं हमको नहीं चाहिए जो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता है थोड़े वित्त नहीं जितने बहुत वित्त में वित्त धन हो जाए तृप्त नहीं हो सकता है सारा राज्य मिल जाए ब्रह्मांड तो भी तृप्त नहीं है फिर स्वर्ग को चाहिए और चाहिए एक ब्रह्मांड मिल गया और दो चार ब्रह्मांड हो तो भी अच्छा है एक ब्रह्मांड मिल गया सम्राट हो गया तो खुश है एक तो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड रह रहा था गए चलो और के दूसरा ब्रह्मांड हो बनाने की इच्छा होगी ये कुछ लोग थक जाते हैं बहुत दिन वेदांत सुनते सुनते थक गए थोड़ा घूम चक्कर लगाए तृप्ति नहीं जो तृप्ति का साधन उसमें भी तृप्ति नहीं होती ब्रह्मांड मिल से कहाँ तृप्त होगा ब्रह्मांड तो भोग्य वस्तु तृष्णा को बढ़ाने वाली न जातु काम कामानम उपभोग्यन साम्यते भोग कामानम उपभोग्यन कामना समाप्त हो जाती घी डालते जाओ लकड़ी में अग्नि शांत हो जाएगी ना घी देने से भूयो अभिवर्धते न वित्तन तर्पण कभी तृप्त नहीं हो सकता है ये धन अर्थ अनर्थ भाव है नित्यम धन है अर्थ नहीं अनर्थ है नास्ति तत सुख लेश सत्यम इसलिए धन से तृप्त होने की इच्छा जो करे वह रास्ता से हट गया धन से नहीं अर्थ ने अनर्थ है लप्स्यामहे वित्तम अधराक्षम चेत्वा और यदि हमका धन की इच्छा हो मिल जाए हमको प्राप्त मिल जाएगा आपका जो दर्शन कर लिया तो धन क्या बड़ी बात है मनुष्य होकर के यमराज का जो दर्शन कर लिया और यमराज जिसकी पूजा करने के लिए अर्घ्य लेकर पानी लेकर के आकर के क्षमा प्रार्थना करते हमारे घर अपने उपवास रह गया कृपा करो वो उसको धन का अभाव क्या होगा <laughs> जो आपके पास हम आए थे तो धन क्या होगा धन क्या कम होगा चाहेंगे तो मिल जाएगा सब श्याम आजीविष्याम यावदिशिष्यसि तो। और जब आप इस पद पर रहेंगे तब तक हम तो जीवित रहेंगे कोई अपने चेला को मारेगा आपका शिष्य बन गए तो फिर पुत्र जैसे हो गया पुत्र को कौन मारने के लिए कहेगा आप सारा जगत को जैसे हमारे प्रति तो जब तक आप हैं हम तो जीवित रहेंगे कोई चिंता नहीं जब नचिकेता सब कहते कहते सब ले लिया धन भी चाहे तो ले लेंगे चिरजीवन ही मिल जाएगा ये तो मुफ्त मिलेगा इसको मांगना क्या है जो बिना मांगे मिलता है उसको क्या मांगे भोजन सब दे रहे दे रहे तो क्या हमको दे दो वो तो दे रहे आप खड़े हो जाते तो आपको मिलेगा बढ़ जा तो मिलेगा नहीं मांगे मिलता है तो उसे मांगना क्या जोड़ते है तो वरस तुम्हें वरणीय सैव ये भी आपने कहा मांगो तो हम मांगेंगे कि क्या मांगेंगे जो बिना मांगे मिलता उसको मांगेंगे क्यों ये तो उसको मिल जाएगा मेरा वरणीय वर तो वही है जो मैंने मांगा था आत्मज्ञान किंच न प्रभुतेन वित्तेन तर्पण्य मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है तृप्त तृप्त नहीं वित्तलाभ लोके चित तृप्ति करो दृष्ट नहीं लोक में नहीं दिखा गया बहुत धन प्राप्त होने से तृप्त हो गया ऐसा कोई बताओ तृप्त होकर के बैठ गया कितने धन संपत्ति वाले बहुत उनके सुनेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा क्या धन कितने कितने करोड़ अरब करोड़ क्या क्या सब बहुत होने के बाद भी और भी और चाहिए और चाहिए कभी तृप्त नहीं हो सकता है नहीं वित्तलाभ लोके कस्य चित तृप्त करो दृष्ट नहीं दिखा गया कभी अनादिकाल से कहीं पुराण शास्त्र में नहीं कोई धन से तृप्त हो गया हाँ विवेक होकर के धन छोड़ देते तृप्त धन से तृप्त हो गया नहीं विवेक से वैराग्य होता है बड़े राजा महाराज भी सब धन राज छोड़ करके अरण्य चले जाते हैं इंद्र भी स्वर्ग में इंद्र पदत्व छोड़ करके जाकर प्रजापति के पास रहा एक से एक वर्ष शिष्य बन करके यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् लप्स्यामहे धन की इच्छा हो तृष्णा हो नहीं होगी तृष्णा क्योंकि इससे तृप्त कोई नहीं होता है यदि इच्छा हो तो लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे प्राप्त करेंगे ते तत् लप्स्यामहे का तो लाभ प्राप्त करेंगे वित्तम अद्राक्षम चेत्वा दृष्टवंत आपको जो हमने देख लिया दर्शन कर लिया तो धन क्या मिल जाएगा जितने चाहेंगे और जीविते भी तथैव जीवन भी ऐसा ही आपका दर्शन केला तो जीवन भी ऐसा है श्याम यावद याम्य पदित्वम इशिष्यसि त्वम इशिष्यसे प्रभु से यम से इदम याम्य यमक पद में जब तक आप रहोगे तब तक हम जीवित रहेंगे कथई समेत समेत्य आयुर्भवे कोई मनुष्य मर्त्य आपके समान आकर के आपके साथ पास में आकर के समेत्य तो या आपके साथ एक ही आकर के अल्प धन भी अल्प आयु भी कैसे होगा धनायु तो बहुत हो जाएगा तो सामान्य है वरत में वरणीय सैव यद आत्मविज्ञानम वही वरणीय है मांगना है जो आत्मविज्ञान ठीक है मैं किंच उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवत्य अधम कामयमान मूर्ख एव अहम श्याम ततो भी मम सैव वरित्या उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवति उत्कृष्ट पुरुषार्थ यदि संभव प्राप्त हो सकता है अधमम कामयमान निकृष्ट यदि चाहेगा तो मूर्ख होता है मूर्ख में हो जाऊँ जहाँ उत्कृष्ट पुरुषार्थ प्राप्त है जहाँ बहुत कुछ मिलता है वहाँ सामान्य यदि कोई हजार हजार रुपया बांट रहे हैं वह जाकर के हमको दस रुपया दे दो तो क्या कहेंगे मूर्ख नहीं वो तो हजार रुपया देना चाहते हैं बोले हमको हमको दो दे दस दो दस दस बीस रुपया दे दो हो सकता है सबको दस दस देते हैं बोलते हमको बीस दे दो क्योंकि हम बहुत बड़े हैं थोड़ा हमको बीस रुपया दे दो तो हजार देने वाले को बीस रुपया मांगेगा तो सब कहे मूर्ख उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष रूप संभव ज्ञान जहाँ संभव है वहाँ ये धन आदि जो धन को छोड़कर सब भाग जाते अरण्य में अधमम कामेमान निकृष्ट को जो चाहता है जिसको त्याग कर देते हैं कितने अनादिकाल से राज्य सुख धन सुख परिवार सुख छोड़ करके सन्यास परिव्राट हो जाते हैं ऐसे निकृष्ट सुख जो चाहेगा मैं चाहूं तो मूर्ख है वह हमसे हाँ, मैं तो मूर्ख हो जाऊं ततो में मम सैव वरित्या वही भर है ये जो कहा गया है अधिकारी से हमेशा ध्यान रखे मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर उत्कृष्ट पुरुषार्थ है मोक्ष संभव है क्या हो सकता है मनुष्य चाहेगा तो प्राप्त कर सकता है चाहेगा तो राजा बन जाएगा प्रारब्ध में तो बनेगा तो नहीं बन सकता है चाहने पर किंतु मोक्ष चाहेगा तो प्राप्त कर सकता है साधन करेगा तो प्राप्त कर सकता है जो प्रारब्ध में इस जन्म में जितने भोग इतने मिलेगा अधिक नहीं होगा किंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी सब अधिकारी है यही उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष रूप पुरुषार्थ जो संभव मनुष्य को और निकृष्ट भोग चाहिए अधम क्षणिक भोग वो क्षणिक भोग तो इस प्रकार करोड़ों करोड़ बार भोग बहुत कर लिया है फिर कुछ थोड़ा मांगेगा तो मूर्ख ही कहा जाएगा ये साधक अपने आप को विचार करें क्या चाहता है कहाँ जा रहा है गज मूर्ख मूर्ख बड़ा मूर्ख बनना चाहता है या विवेकी है या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अपने आप विचार करे थोड़े मैं कहाँ जा रहा हूँ आत्मज्ञान प्राप्ति चाहता हूँ या भोग की इच्छा धन की इच्छा मूर्ख बनना चाहता हूँ अपने आप विचार करो मन से पूछो क्या बनना चाहते हो कितने आत्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा और कितने विषय की इच्छा है यदि विषय की इच्छा अधिक है विषय मतलब ख्याति नाम धन संपत्ति शिष्य पुत्र भूत हो जाए इस प्रकार जो चाहता है दीर्घ जीवन न रहे बहुत जो चाहता है किस रास्ते से जा रहा है विवेक नहीं है मनुष्य जन्म प्राप्त करके दुर्लभ जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसके लिए प्रयत्न नहीं करके अन्य मार्ग में जा रहा है तो मूर्ख ही है अपने आप को दूसरे को मूर्ख कौन से खराब लगेगा अपने आप को कहो जब मन उधर जाता है देखो मूर्ख है तो मूर्ख हो तुम कहो मैं कहो अपने आप सोचो यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तब तो ठीक है अनात्मा विषय का संसार गुरु जब जाते हो उस समय विचार करें मूर्ख है वो नचिकेता कहते मूर्ख है हम आम मैं तो मूर्ख ही हो जाऊंगा इसलिए वो काम नहीं करना तो भी मम सैव वर वही वर है साधक हमेशा लक्ष्य का निश्चय करके वही चाहिए स एव वर मम स एव वर वही है और कुछ नहीं यही प्राप्त करना है परमात्मा साक्षात्कार हो यही चाहिए इतः यतश्च अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त क्वधत प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा नते दीर्घे जीविते कुरमेत अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य जो जीर्ण नहीं होते वृद्ध नहीं होते अजीर्णताम अमृतानाम अमृत अमरण देवता है उनके पास आ करके उपेत्य जो बूढ़ा भी नहीं होते हैं और अमृत है मृत्यु रहित है उनके पास आ के जो अपने से कुछ अधिक प्रयोजन प्राप्त कर सकता है जीर्यन मर्त्य कथस्थ प्रजानन जीर्यन जो जीर्ण होता है बूढ़ा होता है मरते मरण धर्म वाला ऐसे कु और अध क्वध पृथ्वी ऊपर ऊपर को नीचे नीचे रहने वाला हो करके प्रजानन जानते हुए नित्य अनित्य है अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान ये वर्णरति प्रमोदन को जानता है सब अनित्य है नीचे रहने वाले ये धनपुत्र आदि को कौन मांगेगा अति दीर्घ जीवित को रमे तो दीर्घ जीवन कौन चाहेगा यहाँ आकर के ये जो नित्य अमृत है वृद्ध नहीं होते हैं स्वर्ग में आप जैसे उनके पास आकर के मरण धर्मा मरते में रह करके दीर्घ जीवन रहना कौन चाहेगा <clears throat> जब झोपड़ी में कहीं रहता है रहने खाने के नहीं मिलता है झोपड़ी ठीक करता है अब यदि कहीं आकर बड़े प्रासाद तो भोजन आदि सब व्यवस्था तो मिल गया तो कहेगा मेरी झोपड़ी को थोड़ा मजबूत कर दो एक नए झोपड़ी जो बरसात बाढ़ में चल जाने वाली है उस वक्त बड़े मकान सब व्यवस्था सुविधा सब प्राप्त हो जाने के बाद कहेगा मेरा झोपड़ी को थोड़ा ठीक कर दो उसके ऊपर प्लास्टिक के डाल दो पानी गिर रहा है झोपड़ी में सब पानी गिरता है तो प्लास्टिक डालते कुछ छपड़ करते वही कहेगा इसी प्रकार ये क्यों मांगेगा वनरति प्रमदा अति दीर्घ जीवित यहाँ दीर्घ जीवन का क्या कीमत है कौन ऐसा करेगा मृत्य मनुष्य मर ये है मर्त्य में दीर्घ जीवन की अपेक्षा स्वर्ग में रहना तो और आनंद है भोग जो करना चाहते हैं स्वर्ग में रहेगा यह कौन चाहिए और जो मुख्य प्राप्त हो सकता है संभव तो ये लोग इसको कौन चाहेगा ब्रह्मलोक सुख भी नहीं चाहिए मोक्ष चाहते चाहने वाले मोक्ष को और कुछ नहीं चाहिए तभी मोक्ष मिलता है मोक्ष साधन ज्ञान प्राप्त होगा ज्ञान का साधन श्रवण मनन भी कर सकता है तभी यतस्य अजीर्यतां वैवानिम अपना अप्राप्नुवता जीवयहान वैवानी को प्राप्त नहीं करते वयोहानि ज़्यादा ज़्यादा उम्र बढ़ता है उम्र अधिक है या हानि होती मालूम है जो बड़ा हो गया उम्र बहुत है है ना बहुत हो गया घट गया जितने था उसमें से घट जाता है एक साल के बाद एक साल बड़ा हो जाता है ना आयु में से एक साल घट गया फिर पाँच साल जो बड़ा है उसके आयु पाँच साल घट गया है यार पाँच साल अधिक वयो हानि जिरी वायु हानि वायु की हानि उम्र घट जाना इसलिए पुराना होता जाता है आगे जितने बड़ा होता है इतने इतने वायु कम होगा आगे वयहानिम अप्राप्नुवताम वो स्वर्ग में जो होते हैं वो वृद्धा नहीं होते हमेशा तीस वर्ष उम्र ऐसे ही रहेंगे थोड़ा बड़ा हो जाने पर शरीर में रोग आंख कान सब जवाब देंगे दांत कमर भी सीधा नहीं कर सकता चलने के लिए बैठने उठने के लिए हाँ हाँ करेगा बैठने पर उठने के लिए मुश्किल है काम ना काम ही सब वैसे सुन नहीं पाएगा सब कहेंगे तो सुना ही पड़ेता तो नहीं डांट सुनते नहीं जोर जोर कौन इतने बोलेगा जोर से हाँ क्या कहता है और वो कभी कभी बोलता है जोर से वो सुन नहीं पाता तो सब तो लगता है दूसरे लोग भी सुन नहीं पाते होंगे जो सुन नहीं पाते ना तो बड़े जोर जोर से बोलेंगे <laughs> क्यों उनको जोर जोर से बोलने से सुनना ही पड़ेगा जोर जोर से बोलेंगे सब कहे चुप रहो क्या बोलते रहते हैं <laughs> कोई सुनना नहीं चाहते हैं किंतु बोलते रहते हैं उधर और डांटते हैं बेचारे भगवान इसलिए उनके कर दे सुनाई नहीं पड़ता है सुनते हो तो और कष्ट होता है जितने उनको सब कहेंगे अपने परिवार वाले सब सुनेंगे तो बहुत कष्ट होगा इसलिए भगवान कृपा करते थोड़ा कान को दबा देते तो जितने जो कहे सुन नहीं पाता है नहीं सुन पाने से थोड़ा बैठते शांति से बोलते रहते नहीं तो क्या कोई कहते सुने गए तो और कष्ट होगा ये स्वर्ग में जो रहते हैं वृद्ध नहीं होते वैवानिम अप्राप्नुवताम जो प्राप्त नहीं करते अमृतानाम सकाशमपेत्य जो अमर है मरण रहित तो, मरते नहीं है स्वर्ग में जो रहते मरण का नहीं होता है सर्व समाप्त हो जाए सर्व को लेकर राम नाम सत्य हर हर महादेव शंभु लेकर कहीं प्रवाह करना ये कुछ नहीं है समय समाप्त हो गया बर्फ जैसे पिघल जाता है वहाँ शरीर नहीं रहेगा पिघल गया और उसको लाश लेकर कुछ स्मशान में जाना है गंगा जी में जाना ये कुछ नहीं पड़ता है कोई देखेगा नहीं कोई सर ऐसे ये अमृत है अमर उनके पास आकर के उपगम में पास में आकर के आत्मन उत्कृष्ट प्रयोजनानंतरम प्राप्तव्यम तेभ्य प्रजानन जानते हैं कि उनसे उत्कृष्ट प्रयोजन प्राप्त हो सकता है ऐसा जानता हुआ जो नहीं जानता है तो कहेगा भोग मांग लेगा जो जानता है इनसे अधिक प्रयोजन प्राप्त हो सकता है उत्कृष्ट प्रयोजन वो जानता है स्वयं तो जीवन स्वयं तो बूढ़ा हो रहा है मरने की तैयारी है जरा मरण वा जरा मरण वाला दीर्घ जीवन कौन मांगेगा क्वधस्थ कु और अध क्वध कुए पृथ्वी पृथ्वी अध है नीचे किसके अपेक्षा नीचे है भुव स्वहम अजनादि अंतरिक्ष आदि लोकापेक्षया पृथ्वी के ऊपर कितने लोक है छः और नीचे हाँ तो छः लोग की अपेक्षा नीचे अंतरिक्ष आदि लोक अपेक्षा आदि पर से कितने लेना हम्म, हम्म। आदि पर से पांच लेंगे तो छः होगा इन की अपेक्षा नीचे रहता है पृथ्वी रहती है तस्याम तिष्ठति इति क्वधस्थ को और अध नीचे होगी पृथ्वी उसमें रहने वाला क्वधस्थ सन पृथ्वी में रहने वाला सब के अपेक्षा नीचे रहता हुआ कथम एवं अविवेकी भी प्रार्थनीय पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरम वृणीते अविवेकी जिसकी इच्छा करते हैं क्या इच्छा करते हैं पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिर वस्तु चाहते यही विवेकी कौन मांगेगा इसलिए महत्व बुद्धि नहीं करना किसके पास धन अधिक है किसकी शिष्य बहुत हो गए किसकी ख्याति बहुत होगी तो सुनने वाले कहते कितने बड़े ज्ञानी हो गया कितने बड़े लोग उनको ज्ञानी कहने लगते हैं संत कहने लगते हैं भले गृहस्थ हो धन बहुत विख्यात हो गया तो वही संत है और जो संत भी क्षेत्र से भी रोटी मांगता है अतः घर घर नारायण हरि कहता है उसको कोई संत नहीं कहेंगे खड़िया कहीं मांगने वाला आ गया अरे बड़े कथाकार बन गया रुपया बहुत हो गए और बड़े ऊपर स्तर के पहुंच गए साधारण संत को तो गिनती नहीं करेंगे कभी कभी तो महात्मा संत भी उनके सामने अपने को जिनकी महत्व बुद्धि है धन संपत्ति में धन संपत्ति ख्याति में महत्व बुद्धि है तो ऐसे कथाकार को देखने से देखने पर महात्मा लोग तो उनको जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं माला लेकर के माला लेकर के गृहस्थ कोई हो कथाकार हो गया बहुत रुपया बहुत प्रसिद्ध हो गया तो साधु महात्मा भी उसकी कथा सीखते हैं कथा करने के लिए तो उनके सामने बहुत बड़े हो गए गुरु से भी आचार्य से बड़ा मानेंगे उनको भले आचार्य को नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसे कथाकार हो तो माला लेकर दे उनको चढ़ा कर साष्टांग प्रणाम करेंगे ऐसे हो जाते हैं क्यों कारण क्या है वहाँ महत्व बुद्धि है और कोई महात्मा छत्र रोटी खा कर था ना घर से रोटी मांग कर खा रहा है अतः किसी आश्रम में बैठ करेगी तो सोचता है ये लोग क्या है उनके सामने क्या है कितने बड़े संत है बड़े संत क्यों और करोड़ों करोड़ों पति उनके पीछे है इनको कौन पूछता है साधु में ये साधुता अलग है धन संपत्ति अलग है धन संपत्ति ख्याति नाम इसमें जो महत्व बुद्धि करेगा उसी रास्ता में चलेगा पता नहीं चलेगा कभी उस रास्ते में चल पड़ेगा इसमें महत्व बुद्धि होते हो तो समझना अंतकण में कलमश है आई इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको उसी रास्ते में चलना पड़ेगा कम से कम वैराग्य बन बना कर रखे सोच करके ये सब धन संपत्ति आदि जो है ये अविवेकी भी प्रार्थनीयम इसको अविवेकी मांगते हैं विवेकी नहीं ये अभी जो मांगता है चाहता है हमारे पास तो धन आ जाए हम भी ऐसे कथाकार बने बड़े प्रसिद्ध हो जाए इसी जन्म में नहीं होगा यदि तपस्या करेगा तो आगे कभी होगा जितने पुण्य करेगा तप करेगा वो फल उसको ही मिलेगा इसलिए जिसने पहले ऐसे कुछ कर्म पुण्य था इच्छा थी वो बन गया विख्यात हो जाने से करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठे होने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या नहीं ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा जो भी सामान्य रोटी खाने के ठिकाने मांग कर खाता है और किसके पास करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठे हो गया किसको ब्रह्म ज्ञान पहले होगा बहुत रुपया है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा लोग मानेंगे उनको बड़े पूजा करेंगे बड़े हमारा गुरु कहा करेंगे गुरु करके पूजा करेंगे पूजा करेंगे तो ज्ञान नहीं हुआ तो मरने के बाद कहाँ जाएगा मुक्त हो जाएगा ज्ञान के बिना मुक्त नहीं है यही है समझ ध्यान रखना ये अविवेक भी प्रार्थनीय पुत्र विता हिरण्य आदि अस्थिरम वृणीते ये अविवेकी जिसको चाहते हैं विवेक नहीं चाहते विवेक होने पर तो वैराग्य होता है विवेक वैराग्य होने पर संपत्ति धन संपत्ति घर से छोड़ कर भागते हैं अरण्य में जाते हैं मांग कर खाने की तैयारी हो जाते हैं इसलिए अविवेक के द्वारा जो प्रार्थना पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिर कौन ऐसे मांगेगा ऐसे जो वृद्ध नहीं होते हैं शीघ्र मरते नहीं मृत्यु से रहित ऐसे आपके जैसे पास आ करके जब अपना उत्कृष्ट प्रयोजन है इसे मानते जानते हुए स्वयं जीर्ण होने वाला बूढ़ा होकर मरने वाला कौन दीर्घ जीवन मानेगा पृथ्वी में रह करके तो पृथ्वी में रह करके दीर्घ जीवन कौन मांगेगा क्व तदास्त इति वा पाठांतरम क्वधस्थ के स्थान पर क्व तदास्त तदात्मन तस्म आस्थाय से तदास्थ अस्मिन बक्षिच अक्षर योजना तदास्थ करें तो कैसे अन्य करेंगे तेसु आस्थायस्य तदास्थ तेसु केसु पुत्र आदिशु पुत्र वित्त हिरण आदि में जिसकी आस्था आस्था करता आ स्थिति आ समता स्थिति उसमें ही जो डूब जाता है उसमें खुश होकर सारा जीवन रह जाता है जो पुत्र पिता आदि में तात्पर्य न वर्तनम तत्पर होकर के खुश होकर के ही हो गया हम सब कुछ प्राप्त हो गया बड़े खुश है ऐसा जो रहते उनके तदास्थ बहुवचन तदास्था को तदास्थ कौन तदास्थ होगा पुत्र आदि में आस्था करके रहने वाला ऐसे कौन होगा पुत्र धन आदि को बहुत बड़ा मानकर जो उसमें रह गया आगे उसको कुछ कल्याण नहीं होने वाला है भले ही प्रवचन के द्वारा लोगों को खुश कर दे हंसा दे रुला दे संगीत बोल के खुश कर दे स्वयं तो रह गया ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तदास्त जो उसमें रह करके खुश हो जाता है जिसकी वासना अधिक है वो धर्म समय दिखाते में से तृप्त हो जाता अपने मानता है बड़ा कुछ हो गया सब हो गया सतदास्त ततो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम अपि प्रापयिषु प्रापिपयिषु को तदास्त भवेत वो धन पुत्र आदि के अपेक्षा अधिकतर पुरुषार्थ ज्ञान मोक्ष साधन मोक्ष दुष्प्रापम अपि प्रापय प्रापिपेषु जो दुर्लभ है मोक्ष दुष्प्राप दुष्प्रापम उसको प्राप्त करना चाहता हुआ प्राप प्रापिपेषु प्रापयितुम इच्छु प्राप्त करना चाहता हुआ को तदास्त भवेत उसमें धनपुत्र आदि में आस्था आस्तित्व करके रहेगा कौन रहेगा उसका अर्थ न कोम तो आक्षेप में न कस्य तदा तद असारज्ञम तदर्थ से आदि धन धनपुत्र आदि असार है जानने वाला अभिव्यक्त मानता ही सब है साधारण लोग में यही मानते धन संपत्ति पुत्र आदि हो गए बस कृतकृत्य हो गए मानते हैं तदा असहारज्ञ जो जानते कि असार है छोड़कर जाना है कोई लेकर नहीं गया आगे जाने पर इसे मिलेगा नहीं ये अब यहाँ इकट्ठी करके मर गया कि जब जाएगा उसकी संपत्ति वहाँ भी मिल जाएगी मिल जाएगी ना बहुत कमाया फिर जहाँ जाएगा जाएगा ब्याह का खाता लेकर जाएगा तो वहाँ निकालेगा रुपया ये खाता वहाँ नहीं चलते वहाँ का अलग है वो तो हिसाब अपने आप हो जाता है जो मिलने वाला है प्रारब्ध कर्म बन करके वहां रिकॉर्ड मिलते वही मिलेगा अपने खाता कोई कहे उसको छोड़ो तुम्हारे खाता हमारे पास है पहले से जब आगे जन्म लेगा ना उसमें जितने सुख दुख भोगना है जितने पुण्य पाप वहां रिकॉर्ड पहले से है उसके अनुसार मिलेगा यहां खाता नहीं मिलेगा जो तुम्हारे खाता हमारे पास है वही मिलेगा तो ये कुछ नहीं है इसलिए अभिवेक इसको प्रार्थना करते हैं ऐसा कौन प्राप्त करना चाहेगा न कचित तदसारज्ञ असार जाने वाला तदर्थ न स्याद कोई नहीं चाहेगा इसे जो आप देना चाहते हो वो हमको नहीं चाहिए सर्वो ही ऊपरी ऊपरी एव बुबु सती लोकस तस्मा न पुत्र वितादि लाभे प्रलोभ्य हम सर्वो ही ऊपरी ऊपरी बुभु सती ऊपर ऊपर होना चाहते हैं बड़ा बनना चाहते हैं सब उत्कर्ष ही चाहते हैं और बड़े और बड़े सब चाहते हैं उत्कर्ष चाहने वाले विचार करें उत्कर्ष के कौन है किस में उत्कर्ष क्या है धन आदि उत्कृष्ट है या मोक्ष साधना ज्ञान उत्कृष्ट है ऊपर ऊपर सब होना चाहता है लोग तस्माद न पुत्र वितादि आदि लाभे प्रलोभ्य हम पुत्र आदि लाभ इनसे लोभ्य प्रलोभ्य नहीं प्रलोभन नहीं लोभित नहीं होगा लोभ्य नहीं होगा किंच अवसर प्रमुखान वनरति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन निरूपयन यथावत अति दीर्घ जीवित को विवेक रमेत जो अवसर प्रमुख है अभिधा वर्णरति प्रमोदान वर्णरति प्रमोद को जानता हुआ दीर्घ जीवन कौन चाहेगा अवसर प्रमुखान अवसर है प्रमुख प्रधान जी में सब गीत संगीत नरथ आदि बहुत है अवसर है प्रधान भोग के लिए वर्णरति प्रमोदान वर्णरति प्रमोदान टिप्पणी में अवसर प्रमुखान वर्णरति अवसर प्रभुतेन तत् प्रधानम अवसर प्रभुते वर्णादि शब्द अभिधेयान टिप्पणी में वर्णादि शब्द अभिबीज अभिधेय अभिधेयान स्थान तान पाठ टिप्पणी में ठीक बन नया में बनाया तन्मूलकान वा वर्णादि शब्दाभिधेयांश तान तान विषयानित्यर्थ वर्ण रति प्रमोद का अर्थ शब्द का अभिधेय वाच्य उस विषय को कौन चाहेगा वर्ण है गीत आदि क्रीड़ा है रति प्रमोद है तजन सुख वर्णरति प्रमोदान वर्ण की गीति रथि क्रीड़ा और प्रमोदे तजन तो सुख ऐसे वर्णरति प्रमोद क्रीड़ा रति गीति रति रमण और तजन तो सुख ये कौन चाहेगा जो कि अनवस्थित रूपतया अवस्थित नहीं अनित्य है नष्ट होने वाला है ये अनवस्थिततया अविद्यायन निरुपयन ध्यान करते निरूपण करता है यथावद ठीक ठीक समझ लेता है कि अनित नष्ट होने वाला है अनित्य है ऐसा जानते हुए अति दीर्घ जीवित को विवेक रमेता अति दीर्घ जीवन में कौन विवेक रमण करेगा दीर्घ जीवन कौन चाहेगा बहुत जीवन बहुत से कोई जानता है ये भोग्य वस्तु कोई स्थायी रहने वाले नहीं है तो रह करके क्या करेगा रह करके भी कभी कितने भोग करेगा इसलिए ये तो अविवेक ही चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं नचिकेता स्पष्ट कर देता है जितने सब है प्रलोभन कुछ नहीं चाहिए अत विहाय अनित्य कामे प्रलोभनम यन्मय प्रार्थितम यस्मिन् प्रेतीति इदं विचिकिसन्त विचिकिसनम विहाय अनित्य कामी प्रलोभन अनित्य काम्य वस्तु से प्रलोभन छोड़ करके यस्मिन निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यसाम पराये महति ब्रूहि नस्तत् योयम वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम नचिके नान्यं तस्मा नचिकेता वृणीते यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति इदम इदम क्रिया विषय इदम यथा स्यात् बीच के साथ संशय करते हैं ये मृत्यु यह सांप्राय महति परलोक के विषय में तन न न ब्रूई वो हमको कहिए योयम वर गूढ़ हम अनुप्रविष्ट जो अत्यंत गुप गोभनीय गूढ़ है गूढ़त्व को प्राप्त किया अनुप्रविष्ट प्राप्त नचिकेता अन्य वर न वृणीते ये श्रुति का वचन नचिकेता मन से भी नहीं चाहता अन्य वर या तो व्याय अनित्य कामी प्रलोभनम जे मैंने मांगा था यस्मिन प्रेते इदम विचिकित्सनम विचिकिसंति संदेह करते अस्ति नास्ति एवं प्रकार कोई कहते मरने के बाद आत्मा है कोई कहते मना करते हे मृत्यु शाम पर आए का परलोक विषय महति महत प्रयोजन निमित्ते यही बड़ा प्रयोजन का कारण है आत्मनो निर्णय विज्ञान आगे आत्मा रहता है देहादि नष्ट होने पर भी ये समझने के बाद वही आत्मा नित्य है ब्रह्म है ये महत् प्रयोजन जिससे सिद्ध होता तन ब्रूहि कते आत्मा कही कहिए किम यो योयम प्रकृत आत्मा विषय वरो जो आत्मा विषय का वर मैंने मांगा गूढ़म का गुहनम दुर्विवेचनम प्राप्तो ये गुह है दुर्विवेचन को प्राप्त किया अनुप्रविष्ट का अर्थ प्राप्त गूढ़म अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्ट का अर्थ प्राप्त दुर्व्यवचन को प्राप्त हुआ उससे अन्य कोई नहीं चाहता तस्मा अन्य तस्माद वराद अन्यम उससे अन्य कोई वर नचिकेता मन से भी नहीं चाहता है वचन से क्या मांगेगा अन्यम अविवेकी भी प्रार्थनीयम या आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी जितने पदार्थ उसको कौन चाहेगा अविवेकी चाहेगा अविवेक से प्रार्थना होता है प्रार्थनियम अनित्य विषयम वरम अनित्य विषय का वर नचिकेता न विनीत नचिकेता नहीं मांगता है मन सापी मन से भी नहीं मांगता है सोचता शब्द से क्या मांगेगा कभी-कभी मन से कुछ इच्छा करते हैं बोलने के संकोच से बोल नहीं पाते हैं जो मन से इच्छा होने पर भी बोलेगा नहीं बोलेगा अलग बात है मन से भी जो नहीं चाहते बोलने का क्या प्रश्न है मन से इच्छा होने पर भी बोलने का भी संकोच होता है बोल नहीं पाते जो मन से भी नहीं चाहता है वो बोलने का प्रश्न कहाँ है ये जो कहा गया मनसा विनय वृणिते ये कौन हो यमराज कहेंगे या नचिकेता कहेंगे नचिकेता नहीं यमराज भी नहीं सुतेर वचनम यदि श्रुतिर वचन में श्रुति कहती है और नचिकेता कहेगा नचिकेता नहीं मांगता है एक कभी-कभी अपने नाम लेकर कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है कोई कहता है जिसका नाम हम कहे ना उसका किसका नाम यदि निरंजन है या देवदत्त हो नहीं तो कोई निरंजन होगा तो सोचे हम उनका नाम ले कहते हैं <laughs> देवदत्त ऐसा नहीं चाहता है देवदत्त ऐसा नहीं करता है अपने स्वयं देवता है तो ऐसा करते हो देवदत्त कभी ऐसा नहीं करता है हम ऐसा नहीं करते नहीं करके क्या देवदत्त ऐसा नहीं करता है ऐसे नचिकेता ऐसा नहीं चाहता है ऐसे नचिकेता नहीं क्या यमराज के पास गुरु के पास उपस्थित होकर के आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च श्रेष्ठ कामो न गृह्यात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो अपना नाम बार-बार देवदत्त ऐसे कहता है देवदत्त ऐसे नहीं चाहता है स्वयं देवदत्त क्या देवदत्त के ऐसा नहीं देवदत्त ऐसे नहीं करने वाला है अब गुरु नाम गुरु का नाम भी आत्मा गुरु नाम नामाति कृपण बड़े कृपण का भी नाम नहीं लेना नामाति और श्रेष्ठ कामना गृण्यात ज्येष्ठापत्य बड़े पुत्र का नाम पत्नी का नाम भी लेने के लिए मना किया अभी तो पत्नी भी पति का नाम लेकर के बुलाती है सुनने वाले हो गया उनका नौकर का नाम होगा उसमें खुश होते हैं नाम नहीं लेना चाहिए तो यह श्रुति कहती यह नचिकेता ने कुछ मन से भी नहीं मांगता कुछ नहीं चाहता है जब ऐसे ही साधक हो जाए और कुछ नहीं चाहता है तभी परमात्मा कृपा करेंगे ज्ञान प्रदान करेंगे ये प्रलोभन कहीं ऐसे प्रकार विभिन्न मिलता है नहीं चाहे नहीं चाहे बिल्कुल सावधान रह करके आगे बढ़े जो प्रारब्ध मिलेगा तो जरूर किंतु वो मिल गया तो बड़ा खुश हो गया और मिले ऐसा चाहिए ये भावना हो गई तो गया और कहीं किसके पास धन दिखा तो हमको कभी मिलेगा मकान दिखा हम भी से बनाएंगे कथा करते थे तो हम कैसे कथा करेंगे उनके बहुत लोग पूजा उनकी पूजा करते हमारी पूजा कैसे करेंगे उनके शिष्य बहुत हमारे कब शिष्य बनेंगे ये भावना करने वाले संसार को जाता है नीचे को संसार नहीं अभी तो पृथ्वी में नीचे पाताल है कितने पाताल है कितने नीचे नीचे जाता है इसलिए हमेशा सावधान होकर के इस मार्ग में आगे चलना चाहिए इति अध्याय प्रथमाध्याय प्रथमावल्ली समाप्ता ओम भवतु